जल्दी जल्दी आगे का तो देखो अशक्य है तो ये निग्रह आदमी जिस प्रकार से किसी चीज को पहचाने में ग्रहण करने मेरा बेटा है तो समझ में उसको सामर्थ्य नहीं है उसी प्रकार से अज्ञान रूपी माया रूपी अविद्या रूपी नजरा पिया हुआ आदमी के अंदर संसार क्या है आत्मा क्या है उसको ग्रहण नहीं कर अपने आत्मस्वरूप को ग्रहण नहीं करता उसमें शरीर आदि नहीं आ सकता ये यहाँ पर अशक्त शब्द नहीं तो ऐसे लोगों के प्रति जो कि संसार में आरूढ़ है आत्मा के उनका जो आरूढ़ होना सुंदर है ऐसे लोग उनकी स्थिति केवल भी कभी देखने प्राप्त है कर्माणी कर्म यह <coughs> कौन जो कर्म के अधिकारी है उनके प्रति मुझे पुत्रान्वेषण हमारा उसको पुत्रेचना है रितेशना है लोकेशना है ऐसे लोगों के लिए चौबीस घंटा लगे रहे एक के बाद एक बनाओ कभी कोई रंग महोत्सव कोई स्वर्ण महोत्सव कोई और महोत्सव समाज में लगाते रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो इसको पुत्र है रितेशना है लोकेशना है तो लगे रहना पड़ेगा और क्या होगा ऐसे में करते रहो तो भी नव कर्म करते ही सात निषिद्ध कर्म है उससे व्यक्ति पर लिप्त उसका प्रभाव से संबंध नहीं है पाप कर पाप कर्मों से वह लिप्त रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा राशिकार करते कर्माणी अग्निहोत्रादि अग्नि कर्मों का निर्वर्तन करते रहे निशान करते हुए ही जीना पड़ेगा लेकिन इस कर्म में से आगे तो कोई अधिकारी नहीं शादी होते तो हैं तीस में पैंतीस में आधा काल करते तो क्या परेशानी करते लेकिन वहां बताए अग्नि आधान करने के लिए पुष्प तो जात पुत्र पुष्प केश अग्निनाद पुत्र हो और सारे बाल काले हो व्यक्ति अपने आधान करके अग्निहोत्री बन देश विवाह होगा जब जब बेटा होगा तो क्या है उसके बहुत विवाह का अच्छा नहीं होगा सब हो अग्निहोत्री बन नहीं सकता नहीं होगा ना तो हो गया नकली असली नहीं तो इसलिए कहते कि देखो कि आपको तो यदि शास्त्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में अपन करते हैं मनुष्यत्व का प्राप्त कर जो उन्नति को प्राप्त करना है वास्तविक उनके आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य की ओर मनुष्य की ओर बढ़ने के लिए भी आपको प्रयास करना है तो केवल मृत ऋषि आएगा बाद में जयसमृत जियो मरो जियो मरो वो तीसरा कोटि वो तीसरे कोटि की बात नहीं है दो ही कोटि की बात करी है एक दो बिल्कुल ब्राह्मण प्रति निष्ठा जो वेदांति है और दूसरा कर्मी साधन है चाहे निष्काम कर्म करे रहे तो सकाम कर्म कर रहा है साधक है जो वेदानुसार वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान करके जीवन की इच्छा करने वाला है वह दूसरा कर्म उसको दिया जा रहा है तीसरा वो पशु है उनको हम लोग कहते पशु मनुष्य रूप में भी पशु देव रूप में भी पशु चाहे कोई भी हो नहीं हो यदि वह अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता वेदानुसार में वो पशु है जो केवल संसारिक भूमि कर्माणी कर दे अग्नोचार्य कर्माणी निर्वर्तन जीव से जीवित इच्छे जीने की इच्छा तब इच्छा सदसंज्ञा का तो सदसंज्ञा का सौ संख्या है ऐसा संवत्सरांत तो दर्शन सौ साल तक जीने की इच्छा करें हम लोगों के देश में तो कम से कम कानून बनना चाहिए जीने से समाज के अनुसार भी जीवन कर रहा है केवल तो तदवीय भी जी रहा है पैसे लोगों के लिए होना चाहिए था जैसे चाइना में है देशों में है उसमें आदि सब लोग थोड़े समझेंगे दुर्लभ लोगों का क्या ये नहीं समझेंगे कहीं बहुत अच्छा प्रचार होगा कि सौ साल तक जीने की इच्छा करें तो वो हम अग्निहोत्र कर्म को करते हुए ही जीने की इच्छा पुरुष से परमायु ये ही पुरुष से परमायु के विषय के प्राप्त जो शतायु है उसी का अनुवाद कर दिया अनुवाद करके विधि क्या है तरह विधि है कुंडम लोक कर्माणी प्राप्त और अनुवाद यज्ञ विजय चतुर्वर्षाणी जो व्यक्ति इस अनुसार विधि के अनुसार संसार जीना चाहता है उसको यह विधि लागू हो जाता है एवं एवं प्रदान होता है और कहे इसमें तुम पैदा हो इसमें तुम भारतीय हो ये तो वास्तव में सभी मनुष्य है और मनुष्य सामान्य के लिए सनातन धर्म इसलिए वैदिक सनातन धर्म जो चीज है मनुष्य सामान्य के प्रति आज भी सब करता है मेरे मातृत्व का अभिमान कर लेता है उसको तो यदि तो उसको संसार जीना चाहिए और जिन्हें की इच्छा करके उसको अवश्य ही कर्म करनी चाहिए इसलिए कहते हैं पिता ने एक अग्नोता कर्म वाली पूर्वता अग्निहोत्र आदि कर्म प्राचीन मनुष्य हम ये आत्मा में नहीं पहले आत्मा में आती थी अपनी बहन शास्त्र विधि के अनुसार चलना जरूरी है ब्रह्म मुहूर्त में जगना जरूरी है तो नहीं चलेगा वो तो उन्हीं को चला और तो पशु कोटि में गया और उससे जो है वो प्राप्ति है उसका सोना ही था उसमें सोना नहीं चाहिए और सोना था पूर्व मंत्र के द्वारा सन्यासियों को ज्ञान निष्ठा का कथन किया हुआ है द्वितीय न तयशक्त कर्मनिष्ठ और द्वितीय व्यक्ति जो द्वितीय मंत्र है वो उस आत्मज्ञान निष्ठा जिसके समान वह आकार थे विज्ञान और कर्म का समुच्छेद को स्वप्न में भी सोचना नहीं है कभी होनी सत्ता नहीं संभव है इसलिए इस बात को हमने पहले ही बता दिया है यहाँ भी उत्तम यहाँ पर भी तो स्पष्ट दो मंत्रों से यही है सब कर्म जो अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व मनुष्यत्व ब्राह्मणता अभिमान को लेकर जीने की इच्छा कर रहा है उसको अवश्य ही प्रेता प्रेष्ठा उत्कृष्टा लोकेष्ठान को त्याग कर अपनी अहंता ममता को त्याग कर मनुष्य को ब्राह्मण ब्रह्मचर्य भूमार्ग में त्याग दिया इसलिए उन्मत्त काष्ट ज्ञान की चर्चा होगी दूसरी चर्चा ही नहीं करेगी उसमें साथ स्वाद नहीं लोग व्यवहार के लिए निम्न कोटि का आ ही गया है बहुत ही निम्न कोटि का है उसका आत्मज्ञान क्या क्या चर्चा करेगा उसके लिए उसका हुक्म उपदेश भी नहीं लोग का संग्रह मेरा आपकी किसने कहा अधिकारी नहीं तो देखते तो हुए ज्ञानी हमेशा उसी के अनुसार उसको पेश एक परमाणु परमाणु भगवान को दिखाई दे अभिज्ञान जो सामने आ जाए विद्वान को ब्रह्म ज्ञान देना नहीं चाहिए तो सारे संप्रदाय में वही बिगाड़ रखा हमारे जिसको देखो उसको ब्रह्म ज्ञान खुलम खुलम में कोई महक लगा करके बहुत बहुत जो है प्रसाद अधिकारियों के कान में पड़ गया और सारा काम होता लोगों ने कहा सरकार की क्या जरूरत है कोई क्या ब्रह्म शांत भी निराश रहे इसलिए है स्पष्ट अरस चंद्र चिंतन अन्य व्यक्ति पर अन्य कारण मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता उसके लिए हर जगह जंगल है हर चीज उसके लिए बना इसलिए ऐसा आनंद में सदा ही तुम अपने ज्ञान निष्ठा बने रखना अन्य निष्ठा के जाना आगे आएगा शंकराचार्य स्वयं कहेंगे ब्राह्मण के अलावा दूसरे को संन्यास कर दिखा और एक गुरु है तो स्रोत जब को कहा गया कि वो ब्राह्मण ही बनना चाहिए इसलिए लोग तो जिज्ञासा तरह देते हैं आज तो सब चलो कौन रखते हैं बड़ी सन्यासी भी तो है बादाम बादाम बहुत में मिलेगा पर पानी इसलिए बड़े बड़े माता सेवा कर तो वो जो भोग के लिए सेवा है वो शुद्ध संन्यास से ब्रह्मचारी नहीं ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्षत्रिय ब्रह्मचारी वैश्य ब्रह्मचारी शुद्ध ब्रह्मचारी व्यवस्था को समझने में लोग पूछ रहे थे luego para निष्क्रांत मेरे सृष्टि के अधिकारी यही प्रवृत्त हो संतान प्रवृत्त सृष्टि तरह से काल में प्रवृत्त हो क्रियापतश्च पुरस्कार संयास उत्तरे மாறினார் ಆರಂಭಿಕ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ये मंत्र है न्यास ही अत्यरीचय संन्यास ही अन्य सकल मार्गों से अतिरिक्त प्रेम विशेष है लक्षण है श्रेष्ठ मार्ग है ऐसा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है महाभारत शांति पर्व का दो सौ सताईसवें अध्याय छठा श्लोक में न्यास जी अपने पुत्र एवं शिष्य सुखदेव को कह सदे वृद्वाज मावत संधारण यत्तवेदा प्रवृत्ति लक्षणो जन निवृत्तश्च विभावित कार्य करके जो निश्चित से निचोड़ है निर्णय है वो कहा किसने व्यास व्यास जी के द्वारा कहा कैसे है व्यास वेदाचार्य वेद के आचार्य वेदाचार्य तो हमारे आपके जैसे कोई विद्वान विद्वान विद्वान तो होगा पर जो विद्वान विद्वान से झूठ मूठ भी हो सकता विशेषण एक और दे दिया नहीं ऐसे मत सोचो हमारे रास्ते साधारण आदमी है साक्षात भगवान सद सदभग संपन्न ज्ञान पूर्ण ज्ञान सर्वज्ञ सर्वेश्वर संपन्न है ऐसी वेदाचार्य व्यास के द्वारा स्वपुत्र के लिए दूसरे के लिए कहे तो कहा भी जा सकता है ये भाकार है लेकिन पिता पुत्र के लिए एक भी उपदेश या सलाह होगा वो तो अपने बेटे के लिए जो करेगा वो कभी गलत नहीं चाहे पीने वाला हो चाहे तो जुगारू हो चाहे तो कोई भी बाप कैसा भी बाप घटिया से घटिया बाप को पूछो तुम अपने बेटे का रोल चाहते हो कभी कभी नहीं हम मर जाए लेकिन बेटे ये भाव प्रत्येक पिता में अज्ञानी जो बूढ़ा की मूढ़ मेरी है तो विहार कोई भगवत अवतार जो कि संसार कल्याण के लिए ही पुत्र की कामना करके प्रवृत्ति मार्ग प्रस्तुत किए हैं मेरे पुत्र को देखने के बहाने जब कथन कर रहे हो तो वहां पर कोई गलत बात कदापि नहीं हो सकता विश्वास रखा जा सकता है इन चीजों पर विभागम चलिए हो गोशिष्याम पर उनका चीज कह थे गो पर भेदम चौक्षति और पर भी कहते हैं विभागम चलिए हो गोशिष्याम इन दोनों विभाग नवम अध्याय नवम मंत्र अवस्था ये जो है विभाग को दर्शाएंगे नया दिया और समस्त कर्म मार्ग और उपासना मार्ग या जो भी कहो तो ऋण मार्ग जो भक्ति मार्ग आदि का सारे कर्म दूसरे मंत्र और जो पहला मंत्र में कहा ज्ञान मार्ग का विस्तार तक व्याख्यान करेंगे दूसरे से लेकर आप तो उसके लिए जैसे ज्ञान विस्तार में आपकी जो है रुचि को बढ़ाने के लिए और ज्ञानी का हालत को बढ़ाने नहीं निंदा निंदित निंदम निंदा तब निंद की निंदा करने की बुरी करती है परंतु वो दूसरे की प्रशंसा अपना नाम अकेले का द्वारा निंदा जो आत्मसंकृत है ठीक ठीक अगर यहाँ पर निंदा पूर्वक है